फाहमदीन तो कोर्स की मुकम्मल रिकॉर्डिंग अलफारूक एसट हाउस ख्याली अड्डा से हासिल करें वयसरली अमरी वाहलुलुकदतम मिन लिसानी यफकाहु या मुजीब कुल्ल والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى जल्ला जलालुह वम नवालुह व तम बुरहान हो व आजम शान की हमदो सना और हजूर सरवर कायनात मफकर मौजूदात जीनत बज़म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे जमां सैद सरबरा अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालही वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार गहर बार में हदिया सलाम अर्ज करने के बाद नहायत ही मोहतशम हजरात खवतिन रबाल के फजल और तोफीक से माह रमदानमबारक के आशारा रहमत के अरूज में हम सबको जुमातुल मुबारक के इज्तम में शिरकत की सादत हासिल हो रही है मेरी दुआ है खाल के कायनात जल जलालू सब की आमद अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खाल के कायनात जल जलालू कदम कदम पर सबको लाखों सवाब अता फरमाए आज इस रूहानी माहौल में हमारे साथ कुछ अफसरदा ख्याल भी हैं जो जलजला की आफत की वजह से उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा उस आफत का शिकार हुआ बहुत से लोग शहीद हो गए बहुत से जख्मी हुए बहुत से बेघर हुए बहुत से लोगों के आशियाने टूट गए बहुत से लोगों की उम्मीदों के गुलशन वीरान हो गए यकीनन उनका रंज अफसोस और दुख दर्द जिगर में महसूस हो रहा है हम इस अहम मौका पर उनके लिए भी दुआ दो हैं कि खाल के कायनात जल्द जलालू शहीदों को फिरदौस के बाला खानों में बुलंद मकाम अता फरमाए जलाल जख्मियों को शिफा अता फरमाए बेघरों को अच्छे घर अता फरमाए जिन लोगों को सदमे पहुंचे हैं अल्लाह उनको सब्र अजीम की तोफीक अदा फरमाए मोहतशम सामिन हजरात शेड्यूल के मुताबिक हमारी आज की गुफ्तु बड़े अहम मौजू पर है मफहूम कुरान बदलने की वारदात किस्त नंबर आठ इससे पहले सात अकसात इसी मकाम पर बयान की गई हैं जिनमें से पांच तो गुजश्ता पांच रमदान मुबारक के महीनों में मुख्तलिफ सालों में गुजरी और दो अकसात रमदान मुबारक के अलावा भी गुजश्ता साल के दौरान और इस साल के दौरान वो मुकम्मल हुई और अल्लाह के फजल से दुनिया के कोने कोने तक उनको सुना गया और किताबी शक्ल में उनका मुताला भी किया गया आज का मौजू फिर उसी अहम बात से मुंसलिक है कि कुरान मजीद जो कि किताब हिदायत है जो किताब नूर भी है किताब सरूर भी है जिसमें जिंदगी भी है और ताबिंदगी भी है इसके अल्फाज को और इसकी आयात को जब गलत पस मंजर में पढ़ा जाए तो फिर इसी कुरान मजीद से गुमराही फैलती है और इसी से अंधेरों के सौदागर कायनात में अंधेरे बांटते हैं हमने अल्लाह के इज़म उसकी तोफीक और हुक्म से यज़म कर रखा है कि इन तबारक वाली वो तमाम आयात कि जिनको गलत पस मंजर में पढ़ा जाता है या जिनके मफहूम पर वारदात की जा रही है किस बार उनका बयान करके उनके उसी मफहूम को वाजे करेंगे जो सुफा के अजीम माहौल में पढ़ाया गया था और जो रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मज़म सल्लल्लाहु अलैहि से सिहाबा किराम अलहमरिदवान ने सीखा सिहाबा किराम से ताबीन ने सीखा और फिर पूरी उम्मत मुसलिमा का जमहूर आज उसी मफहूम और अकीदे के मुताबिक कायम रहा मोहतशम सामिन हजरात यकीनन ये मरहला तो बड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई शख्स मुकाबले में आयात लेके खड़ा हो जाए और उन आयात की वजह से किसी का रद्द करना शुरू कर दे तो वो इंसान कितना ही हक का अलम्बरदार क्यों ना हो आयात बहरहाल जब मुकाबले में पड़ी जा रही हूं तो उसको सोचना पड़ता है समझना पड़ता है और दिल में उसके परेशानी भी उसे महसूस होती है लेकिन ये कोई नया काम नहीं शुरू से ही अहले हक को ऐसी सहूलतों का सामना रहा है और उन्होंने आयात सुनकर आयात की तशरी करके सही मतलब को जब बयान किया वही लोग जो पहले अपने मौके पर उन आयात को पढ़ रहे थे हक परस्तों की तशरी पर उन्होंने अपने मौकफ से तौबा करके हक परस्तों के मौकफ को कबूल कर लिया मैंने खुतबा में जो आयत करीमा पढ़ी है वयाबून अमिन ही माला यदुर्रुम वला यनफाहम व यकूलू नहा उला शुफा उला इंदल्ला इस आयत को भी कुछ लोगों ने विरद बनाया हुआ है और बतौर वजीफा इसको अपने दुरूस में पढ़ते हैं और मुशरकिन और काफिरीन का जो इसमें जिक्र किया गया उसको बयान करके आज के सादा लोग मुसलमानों तक इस आयत को मुंतबिक करते हैं कि खाल के कायनात फरमा रहा है व वयाबून मिंदून कि वो लोग इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी माला यदुर्रहुम जो ना उनको नुकसान दे सकते हैं वला यनपाउहम ना फायदा दे सकते हैं वह यकूलू न हा उला शुफा उला इंदल्ला और वो बुतों के पुजारी कहते हैं कि ये बुत हमारे अल्लाह के पास सिफारशी बन जाएंगे और हमारी सिफारिश अल्लाह के पास करेंगे इस आयत करीमा को पढ़कर इससे मतलब ये लिया जाता है कि कुछ लोग कलमा गो होने के बावजूद हजरत दाता गंज बख्श अजवेरी रहमत या हजरत गौस पाक रहमत या हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत ऐसे बुजुर्गों को वो अपना शफी बनाए हुए हैं और ऐसे बुजुर्गों को उन्होंने अपने लिए हाजत रवा बनाया हुआ है और अल्लाह ताला फरमा रहा है यकूलू नहाउला शुफाउला इंदल्ला कि ये उन्हीं बुत परस्तों की तरह इनको अल्लाह के पास अपना सपाची समझते हैं तो जैसे कुरान मजीद उन मुशरकों का रद्द कर रहा है ऐसे ही माज अल्लाह इन लोगों का भी रद्द कर रहा है ये वारदात का तरीका है कि पहले इस आयत को पढ़ा जाता है फिर तर्जमा किया जाता है और फिर सारी की सारी तकरीर जो है वो उम्मत मुस्लिमा और इन या के खिलाफ की जाती है और बार बार ये कोशिश की जाती है कि ये सारे जो हैं और बिलखसूस ये एहसास दिला के कि देखो वो मुशरक भी बुतों को इसलिए ही पूछते थे और उनका ताल्लुक इसलिए था कि ये हमें अल्लाह का कुर्ब देंगे और अल्लाह के सफारशी बन जाएंगे अल्लाह के दरबार में सफारशी बनेंगे और ये आज के मुसलमान भी बलियों को यही समझ रहे हैं और इनमें फिर मुशरकिन में फर्क क्या हुआ माजल्ला ये एक गिरदान है जो हर छोटे बड़े को याद है और दर से कुरान हो या दर से हदीस हो या जो कॉन्फ्रेंस हो या कन्वेंशन हो इसी बात को उछाला जाता है और उम्मत मुस्लिमा पर शिरक के तीर बरसाए जाते हैं आओ मैं कुरान सुन्नत की हसी रोशनी की जेर साया इस बात को वाजे करना चाहता हूं कि ये किन लोगों के बारे में है और हमारा आल सुन्नत व जमात का अकीदा उन लोगों से कितना मुख्तलिफ है और कुरान मजीद ने हमारे अकीदे की कितनी हिमायत फरमाई है मोहतशम सामिन हजरात सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर एक सफा नंबर एक सौ सात पर हजरत यजीद फकीर खुद अपना माजरा बयान करते हैं हजरत यजीद उल फकीर कहने लगे कि मैं खारजी हो गया अकीदा मेरा तब्दील हो गया खारजी ये इस्लाम में जो पहले पहले फिरके बने हैं उनमें से मोतजला और खवारिज का फिरका है खवारिज के नजदीक जब कोई शख्स एक कबीरा गुना कर लेता है वो काफिर हो जाता है और दायमी जहनमी हो जाता है इसके अलावा और भी बड़े गलत अकीदे हैं उनके हजरत जजीद उल फकीर कहते हैं मैं खारजी बन गया मैलान मेरा खारजियत की तरफ हो गया और एक पूरी जमात मेरे साथ थी हम घर से निकले कि चल के मक्का शरीफ में हज करते हैं और हज के बाद अपनी जिंदगी खारजियत की तबलीग में वक्त करेंगे और जिंदगी भर ये खारजियत का पैगाम आगे पहुंचा के अपने गुमान के मुताबिक हक का पैगाम आगे पहुंचाएंगे कहते हैं हम इस अजम से घर से निकल गए पूरी एक जमात मेरे साथ थी मदीना शरीफ में जब हम पहुंचे तो मस्जिद नबी शरीफ में मदीना शरीफ की उस मुकद्दस बस्ती के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में एक सतून के साथ बैठे एक बुजुर्ग कुरान मजीद का दर्श दे रहे थे और हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे उनका नाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला है जो रसूल अक्रम नूर मुदस्सम शफी मुआजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नामवर सिहाबी हैं हजरत यजीद कहते हैं वो हदीस पढ़ा रहे थे सामने एक हल्का था लोग बैठे बड़े अदब से पढ़ रहे थे हम भी साथ पीछे जाके बैठ गए हमने सुना कि वो हदीस शिफात बयान कर रहे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को पढ़ाया था शिफात का मजमून वो मजमा आम में उसका दर्ज दे रहे थे और लोगों को शिफात की हदीस का पैगाम सुना रहे थे और वो हदीस भी सही मुस्लिम में मौजूद है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तु ने उसको मौकूफ जिक्र किया बाकी बेशुमार जगह पर वो मरकू मौजूद है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तु रसूल अक्रम सल्लल्लाहु वसलम का ये पैगाम लोगों को बता रहे थे कि हशर बफा होगा तो उस वक्त उम्मत मुस्लिमा की अजीम शान होगी खाल के कायनात जल्ला जलालहू हम सबको रसूल अक्रम सल्ला अलैहि के सोहबत में एक स्टेज पे जमा फरमा देगा स्टेज इतना बड़ा है जो एक टीला है कि जिस पर रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि और आपकी पूरी उम्मत उस पर मौजूद होंगे और सारी उम्मतें नीचे से यूं दूर से ललचाई नजरों से देख रही होंगी कि ये कितनी अजीम अजमत वाली उम्मत है कि जिन सब के लिए इतने बड़ा स्टेज बना दिया गया है चलो इनके पैगंबर या खास लोगों के लिए तो होता ये सारी उम्मत की इतनी बुलंदी पर फायज है सारे लोग रश्क से देख रहे होंगे सारी उम्मतें और आम लोग निगाहें उठा उठाकर इस पूरी उम्मत का मंजर उस वक्त मुलाहजा करेंगे ऐसे में अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा तुद अल उमम ब्यौसान हिंद खाल के कायनात फरमाएगा हर उम्मत ने हर कौम ने हर जमात ने हर तबके ने दुनिया में जिस बुद्ध की पूजा की है वो अपने बुद्ध के साथ हो जाए जिसको उन्होंने झूठा महबूद बनाया हुआ था वो उसके साथ खड़ी हो जाए वो बुतों के पुजारी बुतों के साथ खड़े हो जाएंगे हुक्म होगा वो बुतों के पुजारी बुतों समेत उनको जहन में फेंक दिया जाएगा ऐसे में उम्मत मुस्लिमा और दीगर जो मोमिन मुख्तलिफ अदवार में हुए हैं वो खड़े होकर अभी इंतजार कर रहे होंगे कि खाल के कायनात जल्ला जलाल खुद इन बंदों से कलाम फरमाएगा मैदान हशर है अल्लाह को मानने वाले सारे मुंतजर खड़े हैं खाल के कायनात अभी हिजाब में है और अपने बंदों से गुफ्तगु फरमाएगा माजा तन तजरून तुम्हें किसका इंतजार है बंदों किसके इंतजार में खड़े हो सारे चले गए तुम किसका इंतजार कर रहे हो तो सारे इंसान जो कल मैं हक पर मौजूद दुनिया में रहे हैं और बिलखसूस रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्ला वसलम की उम्मत के नफूस बोलेंगे नन तजेरो रब्बना हम अपने रब के इंतजार में खड़े हैं वो बुतों के पुजारी बुतों के साथ मिले और उनको अपने झूठे महबूदों के साथ जहन्नम में फेंक दिया गया हम तो अपने रब के इंतजार में खड़े हैं तो खाल के कायनात फरमाएगा आना रब्बो तुम्हें मेरा इंतजार था तो मैं आ गया हूं मैं तुम्हारा रब हूं रसूल अक्रम नूर मुदस्सम शफी मुजम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं अभी तक क्योंकि लोगों की आंखों के सामने हिजाब होगा जब ये आवाज आएगी कि मैं तुम्हारा रब हूं आओ मेरे साथ चलो चलते हैं तो ये कहेंगे हत्ता नन जुरा का जरा ये हिजाब हटा दो हम देख तो लें जियारत तो कर लें हमने दुनिया में बड़े सख्त काम किए थे इस दीदार की खातिर हमने बगैर देखे के माना था आज तो अपना जलवा दिखा दे अभी जन्नत में जाने का मामला बाद में होगा खाल के कायनात हशर के उस माहौल में ही अपने बंदों को अपना दीदार करा देगा हिजाब दूर कर देगा यद हको रसूल अक्रम सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि उस वक्त खाल के कायनात मुस्करा रहा होगा मैदान हशर जहां किसी का कोई पुरसान हाल नहीं किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं वहां पर हक परस्तों के लिए कैसा एजाज है जन्नत में जाकर देदार इलाही बनना मिलना वो बात का मामला था हशर बपा होने के बाद खाल कायनात ने खुद उधर जलवा किया है खुद उधर अल्लाह तशरीफ ले गया है जिस तरह भी उसकी शान के लायक है और यह कह दिया है मैं तुम्हारा रब हूं जब बंदों ने दीदार का तकाजा किया है खाल के कायनात जल्ल जलालू ने दीदार आता फरमा दिया है तमाम बंदों जो सदियों से बंदे तड़प रहे थे अपने रब के दीदार के लिए रब का दीदार करते ही खाल के कायनात की तस्वीर और सना शुरू फरमा देंगे और ये भी हम हक परस्तों का अकीदा है वैसे जन्नत में जाने के वक्त जाके हमें खबर मिलती कि ये अल्लाह आ गया है और ये अब्दीदार करा रहा है कुर्बान जाऊं माह मदीना तुम्हारे मुशाहदे पे तुमने आज ही वो हशर का माहौल सब बयान कर दिया है दुनिया में क्यामत का इल्म उसके बारे में लोगों को शक है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु को उसकी खबर है या नहीं और किस अंदाज में है बिल यकीन बिल सात तो यकीनन खुदा जानता है उसके सिवा किसी को कोई पता ही नहीं चल सकता लेकिन उस जाते गिरामी के इल्म का क्या कहना जो हशर बपा होने के बाद के हालात को भी यू ही बयान कर रहे हैं जैसे आंखों दीदा चीज के हालात को बयान किया जाता है फरमा इस तरह सारे खड़े होंगे अल्लाह ताला फिर जलवा फरमा देगा अब खल के कायनात फरमाएगा हुआ जल तले को बिहिम फैत तबीऊ न अल्लाह उनको साथ लेके चलेगा जिस तरह उसकी शान के लायक है खाल के कायनात फरमाएगा आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ मैं तुम्हें लेके चलता हूं सारे पीछे पीछे चल पड़ेंगे अब खाल के कायनात से जलाल हूं हर बंदे को नूर आता फरमाएगा नूर हम यस आ बई दी हिम ये नूर का जुलूस होगा हर बंदे का अपना अपना जुलूस साथ है नूर होगा नूर से आगे चल रहा होगा अब आगे पुल सिरात आ जाएगी पुल सिरात पर गुजरने के जब वक्त आएगा तो उस वक्त तक मुशरकिन तो पहले फारे हो गए जिनको पहले ही जहन्नम में गिरा दिया गया अब यह था कि जिनको नूर दिया गया है अब इनमें भी एक पार्टी अभी शामिल है वो है मुनाफिकीन की रसूल अक्रम सल्लम फरमाते हैं क्योंकि जुबा से तो वो कलमा पढ़ते रहे कुछ ना कुछ फायदा उनको भी होगा लेकिन वो ऐसा है कि जिससे सिर्फ इतना ही उस कलमे की अजमत जाहिर होगी हकीकत में उनको कोई फायदा नहीं होगा पुल सिरात तक पहुंचने से पहले तो नूर मुनाफिक के पास भी होगा उस वक्त रोशनी उसके पास भी होगी लेकिन जू ही पुल सिरात सामने आ जाएगी मुनाफिक का नूर बुझ जाएगा और मोमिन का नूर फिर भी जगमगा रहा होगा उस वक्त मुनाफिक मुरझा चुका होगा और वो जगह है जहां से मुनाफिक दायमी तौर पर जहन्नम में गिर जाएगा असल में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तहों ने ये बात उस मस्जिद नबी शरीफ के दर्श में शुरू इसलिए की थी कि एक शख्स ने सवाल किया था अल्लाह का फरमान है इम मिन कुम इल्ला वारे तुम में से हर बंदा ही जहन्नम में वारिद होगा हर बंदा जब जहन्नम में जाएगा तो जल जाएगा राख हो जाएगा इसका मतलब क्या है तो हजरत जाबिर ये बयान कर रहे थे कि मतलब हमारे नबी इस्लाम ने बयान किया हुआ है कि वारिद होने का मतलब है कि पुल सिरात वो जहन्नम पर ही है जिससे ये गुजर के निकल जाएगा ये मतलब है वारिद होने का इसका ये मतलब नहीं कि हर बंदा ही जहन्नम में दाखिल होगा और जहन्नम के शोले उसको जला के राख करेंगे नहीं वरूद का ये मतलब है क्योंकि पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर रखा गया है वहां से सब गुजरेंगे जो बुरा है या जिसका अकीदा खराब है वो गिर जाएगा और जो सच्चा है जिसने अमल तमाम किया है वो इस अंदाज में गुजरेगा कि उसके नूर की वजह से तो जहन्नम के शोले भी बुझ रहे होंगे और जहन्नम पुकार के कहेगी जुस्सा मोमिन इन नूरा का कद अतफा लाबी तुम जल्दी गुजर जाओ तुम्हारे नूर से तो मेरे शोले बुझते जा रहे हैं यह बुरूद का मतलब है कि ऊपर से सब गुजरेंगे फिर उनमें से कुछ गिर जाएंगे और कुछ जो है वो बरहरात सीधे आगे निकल जाएंगे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला इस हदीस शरीफ का दरअस इस सवाल के पस मंजर में जब दे रहे थे फरमाने लगे अब मोमिन इस अंदाज से गुजरेंगे कि आंख झपकने से पहले पार हो चुके होंगे अब वालो तिन तंजू वजूह कल बद्रे लई ला तल कल कमारे लईला तल बद्र फरमा सबसे पहले जो पुल सिरात से पार होंगे वो सत्तर हजार का ग्रुप होगा और उनके सबके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह जगमगा रहे होंगे ला युहा सबून रसूल अक्रम सल्लम ने फरमाया उनका कोई हिसाब ही नहीं होगा सत्तर हजार चमकते चेहरे लेकर वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे सुम्मा इनके बाद का अफवाह नजम फिल फल आसमां पे देखते हो तो जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता नजर आता है इस पहले ग्रुप के बाद जो दूसरा ग्रुप गुजर रहा होगा उनके चेहरे उस सितारे की तरह चमक रहे होंगे रसूल अक्रम सल्लम ने फिर कजा व कजा से तदरीजन बयान कर दिया कि हर एक का अपना अपना नूर होगा और फिर मुसलसल नीचे उसका ग्राफ आता जाएगा बाहर हाल मोमिन गुजर जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे जन्नत में जाएंगे इनमें से जो फाश को फाजिर था उसका गिरना जहन्नम में भी हो जाएगा लेकिन जिनके आमाल की तकवीजत है वो गुजरेंगे और इस अंदाज से गुजरेंगे रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सरकार की दुआ के सदके में इस तरह गुजरना हो जाएगा कि टहलते टहलते पुल सिराज से पार हो जाएंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया सुम तहिल्लु शफा फैसले हो गए कुछ गिर गए जहन्नम में और अक्सर पार गुजर गए फिर शफात का दरवाजा मेरे नबी सलाम खोलेंगे और आप ही नहीं आपके खादम भी शफात करेंगे फयसफून शफात करेंगे रसूल अकरम वसल्लम के सिहाबा शिफात करेंगे अहले बैत अतहार शिफात करेंगे शफात करेंगे शोहदा सिद्दीकीन सालहीन यहां तक कि तमाम बच्चा भी अपनी वालदा की सिफारिश कर रहा होगा और उसको पकड़ के जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा होगा अब ये शफात का दरवाजा जब खुलेगा इसके इख्ताम पर क्या है रसूल अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक कौम को जहन्नम से निकाला जाएगा जहन्नम में जल जल के राख हो गए हैं लेकिन कलमा पढ़ा था उन्होंने जहन्नमी बने हैं आप फरमा मेरी उम्मत के ही मेरे खादिम उनको जहन्नम से पकड़ के बहर निकालेंगे जालू नफी फना इल जन्ना जन्नत के अंदर नहीं साथ वाली ग्राउंड में उनको रखा जाएगा यरुशून हिलमा तो जन्नती उस पे पानी का छिड़काव करेंगे उन जहनमियों पर जिनको जहन्नम से निकाल के लाए हैं तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं युम बितूना वो उग आएंगे जिस तरह के सैलाब की जरखेज मट्टी में से बड़ी खूबसूरत कौपल निकलती है ऐसे ही उनके जले हुए बदनों से चमकते चेहरे निकल आएंगे उनके सफेद बदन निकल आएंगे जिस वक्त उन पर जन्नत के पानी का छिड़काव किया जाएगा वो बिल्कुल ताबनाक सूरत में चमकना शुरू कर देंगे फयुज आलुलहम का दुनिया फिर अब उनकी जन्नत का फैसला होना है अल्लाह एक तो पूरी दुनिया जितनी उनको जन्नत देगा वह अशरा तो अमसालेहा और दस इसकी मिसलें भी अदा फरमा देगा एक वक्त वो है कि जहन्नम में जल रहा है अब यशपाऊ रसूल अकरम वसल्लम ने शफात का दरवाजा खोला है तो अब शफात आम हो गई है हर एक जो इस लायक है उसको हिस्सा मिल गया है इन्होंने पकड़ पकड़ के जहनमियों को जिनका कलमा था ईमान था लेकिन अमल की वजह से बर्बाद हो गए थे जहनम में गिर हुए थे ये उनको उठाएंगे उठा के ले आएंगे उस पर पानी बहाएंगे उनका बदन सलामत इस अंदाज में निकलेगा कि बिल्कुल चेहरे हशाश बशाश होंगे और खाल के कायनात जल्ला जलाल हु इस दुनिया जैसी एक जन्नत देकर साथ इसकी मिसल दस जन्नतें और अता फरमा देगा ये सबसे कम जन्नत के मालिक हैं जिनको दुनिया जैसी ग्यारह ग्यारह जन्नतें अता फरमा दी जाएंगी अब इस अदीज के जिक्र करने का मकसद यह है कि मस्जिद नबी शरीफ है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला अपने नबी सलाम का फरमान सुना रहे हैं उधर खारजियों की जमात भी पीछे आके बैठी हुई है खुद यजीद अलफकीर कहते हैं मैं उठ के सवाल करने लगा मैंने कहा माजा तो हद सो या साहेबा रसूल सल्लाह ए नबीलाम के सिहाबी को ही होश करके बोलो क्या तुम बता रहे हो लोगों को माजा तो हद सुन तुम लोगों को क्या बता रहे हो कि जहनवियों को जहनम से निकाला जाएगा वह यकूर अल्लाह ताला और उधर कुरान मजीद में तो अल्लाह का फरमान और है तुम किस तरह यह कहते हो कि जहनमियों को जहनम से निकाला जाएगा हाल कायनात तो फरमाता रब्बना इन्न का मन तुद तुदखिल नारा फकत अखजईता वमालिमीन अमिन अंसार आले इमरान है हाल के कायनात का फरमान है रब्बाना ये बंदा कहेगा ए अल्लाह इन्न का मन तुदखिल नार जिसको तू ने जहनम में दाखिल कर दिया एक मरतबा फकत अखजईता अब उसको तो तूने रिसवा रिसवा कर दिया वमालिमीन अमिन अनुसार अब उसका तो कोई मददगार है ही नहीं उसे कोई निकाल ही नहीं सकता वो बहर आ ही नहीं सकता बहर निकल ही नहीं सकता तो हजरत जाबिर देखो तुम क्या बता रहे हो अल्लाह का कुरान तो कहता है जो जहन्नम में चला जाएगा निकल नहीं सकेगा और तुम कहते हो कि इस तरह निकाला जाएगा बेहिसाब निकाल निकाल के उनको जन्नतें दी जाएंगी और फिर सूरह हज की आदमी पर दी कुल्लमा अरादू अई यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा वजूकू अजाब हरी कि जब भी जहनमी ये इरादा करेंगे कुल्लमा अरादू अजू मिनहा मिन हम मिन के घुटन की वजह से चाहेंगे कि हम जहनम से बाहर निकले वो ईदू फीहा उनको फिर लौटा दिया जाएगा और कहा जाएगा जूकू अजाब अलहरी अब चखो अजाब तुम आज का अजाब चखो तो हजरत यजीद अल फकीर कहते हैं मैं डट गया मैंने कहा तुम क्या हदीस बयान कर रहे हो देखो दो आयात मेरे पास है अल्लाह फरमाता जब भी कोई निकलने का इरादा करेगा उसको दोबारा फेंक दिया जाएगा और साथ झिड़की भी दी जाएगी अब चख हजाब तू क्यों बहराता है तो फिर जहन्नम में जो दाखिल हो जाएगा वो तो जहन्नम से निकल ही नहीं सकता और अल्लाह ताला के नबी सलाम के सिहाबी इतना जिम्मेदार तुम्हारा मनसब है और मस्जिद नबी शरीफ में तुम दरस दे रहे हो और मस्जिद नबी शरीफ के सतून के साथ तुम्हारी क्लास लगी हुई है और तुम आयात की मुखालफत कर रहे हो और यह बता रहे हो कि वो आ, उनको जहनमियों को निकाला जाएगा और उन पर पानी छिड़का जाएगा और उनके चेहरे चमक जाएंगे और फिर उनको दुनिया की ग्यारह मिसल जन्नत दे दी जाएगी ये तमाम तुम पुराने मजीद की खिलाफवर्जी कर रहे हो अब सही मुस्लिम में ये सब कुछ मौजूद है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तहों ने जब ये एतराज सुना तो कमाल खंदा पेशानी से जवाब दिया हल्का बैठा था उनको भी ये अदब था कि दर से कुरान हो रहा है अगर किसी ने सवाल किया है तो उसकी टांगे नहीं तोड़नी उसको जवाब देना है और अब वो सवाल करने वाला अब देखो दो आयात पेश करके सवाल कर रहा है और सुनना जब जवाब आएगा तो वही खारजियत से तौबा करके इस्लाम का कलमा पढ़ेंगे और खुद ही आगे बयान कर रहे हैं हजरत यजीद अल फकीर कहते हैं जब मैं अपने बड़े तुंदो तेज और गर्म दलायल दे चुप हुआ तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला ने गुफ्तु शुरू की तुम्हें पता है ना ये वही जाबिर है कि जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तला जहां बैठते थे इनके इल्म को सलाम करते थे और लोगों ने कहा था ताकि को जाबिरम बिलील में वाहन तानता अली इनके इलम की बड़ी बातें करते हो हालांकि तुम तो खुद मदीना तो इल्म के भाव हो हजरत अली रदी अल्लाह तला ने कहा था इन नहुकाना यू आया एक आयत की तफसीर मुझे कहीं भी नहीं मिलती थी वो आयत मुझे इनके खिरमन इल्म से मिली है तो जब भी बैठता हूं इनको सलाम करता हूं ये वही जाबिर है कि जिनके अब्बा जी उहद में शहीद हो गए थे तो पीछे नौ हम भी हाथ रखा था बरकत इतनी आई थी सारे कर्ज भी पूरे हो गए और खजूरें भी सारी बच गई थी वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तालान हो अब मस्जिद नबी शरीफ में सैफुल हदीस है और हदीस पढ़ा रहे तो हम सीरा भी थी और कर्ज भी था और बड़े नढाल होके बैठे थे और महबूब सलाम से कहते थे यहूदी का कर्ज देना है उसको कह दो कि कर्ज माफ कर दे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने खजूरों में हाथ रखा था बरकत इतनी आई थी सारे कर्ज भी पूरे हो गए और खजूरें भी सारी बच गई थी वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तालान हो अब मस्जिद नबी शरीफ में शेखुल हदीस है और हदीस पढ़ा रहे हैं जिस वक्त ये सवाल हो गया हदीस के मुकाबले में दो आयात आ गई तो फरमाने लगे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तालान हो अतकराउल कुरान हम उससे सवाल करने वाले क्या तुम कुरान पढ़ते हो तुम्हें कुरान आता है कुरान जानते हो तो ये कहते हैं ना हम हाँ, कुरान ही मैंने पढ़ा है मुझे कुरान आता है मैं कुरान पेश कर रहा हूं मेरे पास कुरान है मैंने कुरान से दलाल पेश किए हैं तो फरमाया हल समेता बे मकाम इन सल्लाम ए कुरान पढ़ने वाले तुझे कुरान से मकाम मुस्तफ़ा सलाम का पता नहीं चला क्या तुमने सुना है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम का मकाम क्या है पूछा गया कौन सा मकाम अब वो वजाहत में आयत की रोशनी में करना चाहता हूं जिसको वहां पर इजमाल के साथ बयान किया गया मकाम वो फरमा व मिनल फतहजत भी ना फिलतल्ला का आसाई अब आशा का रब्बू का मकाम महमूदा फरमा जहनवियों वाली आयात जो तुमने पढ़ी तो तुमको मकाम महमूद वाली आयत नजर नहीं आई तब फरमाता है वमिनल लई फतहजत रात के वक्त नफल पढ़ लो तहजुद के तहजुद पढ़ो ये तुम्हारे लिए नाफिला तल्लक ये तुम्हारे लिए स्पेशली इन एडिशन है कि तुम रात को तहजुद पढ़ो अशा यब आशा का रब्बू का मकाम महमूदा वो वक्त करीब आने वाला है जब अल्लाह तुझे मकाम महमूद पे खड़ा कर देगा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तला कहने लगे मकाम मोहम्मदिन अल्लाजी युखरिजुल्लाहु बिही मई जो मकाम महमूद का बताओ और तर्जुमा क्या है मकाम महमूद का और मतलब क्या है मकाम महमूद की और हैसियत क्या है मकाम महमूद नाम ही उस मकाम पर है कि जिस पे खड़े होने वाले वो अजीम इंसान होंगे जिनके बारे में इशारा करेंगे उन जहनमियों को जन्नत अता फरमा दी जाएगी मकाम महमूदा वो मकाम कि जहां नबी सलाम खड़े होंगे तो हर कोई तारीफ कर रहा होगा ये मतलब है इसका माना है कि जहां हर कोई तारीफ कर रहा होगा रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी इसकी वजाहत से पहले अब आयात पर तबसरा सुन लो कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तु ने आयात का इनकार नहीं किया बल्कि एक और आयत का हवाला देकर मतलब वाजे किया है कि वरना वारदात हो जाएगी तुम वारदात कर रहे हो आयात पढ़ के आयात सही है तुम मतलब गलत ले रहे हो और मतलब तब सही हम समझ आएगा जब मकाम महमूद वाली आयत सामने होगी क्या मतलब बनेगा फरमा खाल के कायनात जल्ला जलालू जहन्नम में जिन लोगों को दाखिल करेगा उनकी दो कैटेगरीज होंगी एक वो है कि जिनको खुलूद के साथ दाखिल किया जाएगा हमेशा के लिए ये कौन है काफिर मुशरक और दूसरी कैटेगरी क्या है कि जो दाखिल तो होंगे लेकिन कुछ वक्त के लिए कि गुनाहों की सजा लेंगे और फिर उनको निकाल दिया जाएगा तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला ने समझाया कुल्लमा अरादू युखरिजू मिनहा मिन गम मिन उदू फीहा कि जिनके बारे में कुरान ये कह रहा है कि वो जब निकलेंगे निकलना चाहेंगे उनको धक्का दे के फिर गिरा दिया जाएगा ये उन लोगों की बात नहीं जिनके दिल में कलमा इस्लाम मौजूद होगा ये उन लोगों की बात है जिन्होंने जिंदगी शिरक में गुजारी होगी कुफर करते रहे होंगे इनको कभी भी जहन्नम से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा और हर लमा जहन में दायमी अजाब उन लोगों को दिया जाएगा और दूसरी तरफ इसका अगर पस मंजर देख लो जो आज हमें तवज्जो से इसका सामने मतलब आ रहा है तो पीछे बात ही काफिरों की आ रही है फल लदीना काफारू वाज लफ्ज है पीछे कि ये आगे जो हुक्म बयान हो रहा है कि जब निकलेंगे तो उनको धक्का देकर फिर गिरा दिया जाएगा ये बात किसकी है फल लजीना काफारू जिन लोगों ने कुफर किया उन लोगों के लिए है कि उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा उनको धक्का देके फिर गिरा दिया जाएगा और उनको जहन्नम में उल्टा कर दिया जाएगा और दायमी अजाब उनको होगा और फिर दूसरे मकाम पर इन कमन तुदखिल नार फकत अखजईता वमाली जालिमिन अमिन अंसार यहां पर लफ्ज खिज बोला गया है रुसवाई बोली गई है लफ्ज रुसवाई क्यामत के दिन की रुसवाई किसी मोमिन के लिए नहीं कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो उसको रुसवा नहीं कहा जाएगा इस वास्ते के अल्लाह का फरमान है योम ला युग जिल्लाबीजा वल्लजीना आमनु मा क्यामत का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह अपने नबी सलाम को भी रुसवा नहीं होने देगा और ईमानदारों को भी रुसवा नहीं होने देगा मतलब क्या बना जहन्नम में जाकर भी जो कुछ वक्त के लिए गए हैं उनके जाने को रुसवाई नहीं कहा जाएगा खिज ही नहीं कहा जाएगा क्योंकि अल्लाह का वादा है खिज सिर्फ मुशरकिन के लिए है वो हमेशा रहेंगे और वो रसवाई है ये जाएंगे ततहीर के लिए ये जाएंगे पाक होने के लिए ये जाएंगे अगर पहले बख्शा ना गया सफारश कबूल ना हुई तो कुछ वक्त के लिए जाएंगे वो जाना इनके लिए मुफीद हो जाएगा जिससे इनकी ततहीर हो जाएगी लिहाजा इन न कमन तुद खिलिन नारा फकत अखजईता ये आयत है ही मुशरकिन के लिए और काफिरों के लिए उनको अल्लाह फरमा रहा है वमालिमीन अमिन अंसार इन काफिरों का कोई हामी नहीं कोई मददगार नहीं इनको कोई बचा नहीं सकेगा इनको कोई निकाल नहीं सकेगा अब मस्जिद नबी शरीफ है सुफा का माहौल है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रबी अल्लाह तु की तकरीर है सिहाबा बैठे हैं ताबीन बैठे हैं जब दो आयात पेश करके वारदात की कोशिश की गई हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तलान हो जो इलम नबूबत के बारिश हैं उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के सही मतलब को वाजे फरमा दिया अब इसमें एक बात तो बिल्कुल आपके सामने बाजी हो गई कि किसी का कुरान पढ़ना ये उसके हक बरहक होने की दलील नहीं है कुरान गलत मकासद के लिए पढ़ा जा सकता है और कुरान गलत मतालब के लिए पढ़ा जा सकता है और बड़े बड़े लोगों के सामने ये पढ़ा गया हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला एक एक आयत की तफसीर में जिन्होंने कई कई महीने बसर किए हैं उनके सामने जसारत कर रहा था हजरत यजीदुल फकीर की उन्होंने बड़ी आयात पड़ी और अपना मौकफ पेश कर रहे थे कि जो जहन्नमी है वो जहन्नम से निकल ही नहीं सकेगा और तुम ये हदीसे शिफात बयान कर रहे हो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने आयत पढ़ के सुना दिया कि अगर जहन्नमी जहन्नम से निकल ही नहीं सकेगा तो नबी सलाम को मकाम महमूद पर खड़ा करने की हिकमत क्या हो सकती है आपके लिए जो मकाम महमूद है वो मकाम महमूद ही इस बात की दलील है आयात का माकबल पढ़ो तो वो फिर भी समझ आ जाएगा लेकिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तला ने फौरन जो जवाब दिया तो वो मकाम महमूद सलाम से आयत पढ़कर उनको जवाब दे दिया कि तुम आयात को सही तब समझ सकोगे जब तुम्हारे सामने दूसरी आयात भी मौजूद होंगी और उनको देखकर कहोगे कि एक आयत का हुक्म कुछ लोगों के साथ है दूसरी का कुछ लोगों के साथ है जो तुमने दोनों पढ़ी उनमें से किसी का तल्लुक भी मोमिन के साथ नहीं वो आयात मुशरकिन के बारे में है और वो आयात कुफार के बारे में है और जो निकालने वाली बात हो रही है ये मोमिन की बात हो रही या काफिर की बात नहीं हो रही काफिर यकीन जहनमी रहेगा ये मोमिन है बिल आखिर जन्नती बन जाएगा और मुझे अफसोस है आज तक लोगों को इस बारे में मुलेखा लगा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक प्रोफेसर इस्लाम याद की उसने किताब लिखी यही आयात लिखी आज भी जिद्दी है कि जहन्नम से कोई नहीं निकल सकेगा इतना उसको जहन्नम का शौक है कि जहन्नम से कोई निकल ही नहीं सकता आयात दलालत कर रही है और फिर इस पर कितनी अहादीस मौजूद है लेकिन वो जाहरी मफहूम जिसको समझने के लिए खुद कुरान की आयात हमारी रहनमाई कर रही है कि जहन्नमी जो इस अंदाज में दाखिल होंगे कुफर शिर की हालत में वो कभी नहीं निकल सकेंगे लेकिन जिसने ईमान कबूल किया है कितना ही बदकार क्यों ना हो बिल लाकर जहन्नम से पाक होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा अल्लाह तला ने जो अल्फाज बोले और आयत पढ़ने से पहले अंदाज क्या था हल समेत अब मकाम मोहम्मद इन सल्ला कुरान के हवाले देने वाले तुमने मकाम महमूद आज तक नहीं पढ़ा मकाम महमूद क्या है अलबहरुल मुहीत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तु इसका तर्जुमा करते हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तो यह कहते हैं मकाम यमीन अल अर्श अर्श की दाई तरफ हशर के दिन रसूल अक्रम सल्लम नूरी चेहरे के साथ नूरी लिबास के साथ खड़े हो जाएंगे अर्श के दाएं तरफ और हर निगाह जो उठेगी आपकी तारीफ कर रही होगी और आप शफात का दरवाजा खोलेंगे आपसे पहले कोई खोल नहीं सकेगा और जब आप खोलेंगे तो आप ही की दी हुई इजन से और आपकी उस खोलने के फैज से जो अल्लाह की तुमसे आपको इजाजत मिली क्या होगा फिर उम्मत के औलिया भी अपने खुदाम की शफात कर रहे होंगे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तला का अंदाज बड़ा अजीब है वो कहते मकाम महमूद क्या है अजलसहुल्लाहू माहू अल अर्श खाल के कायनात अपने नबी सलाम को अपने साथ अर्श पे बिठा लेगा अब ये वो जाने कि इससे मुराद क्या हो सकती है मैयत किस अंदाज में है अजलसहुल्लाहू माहू अल अर्श अलखाल के कायनात जल्ला जलाल अर्श पर रसूल अक्रम सल्लम को अपने साथ बिठा लेगा ये वो मकाम है कि जब हर फरिश्ता भी तारीफ कर रहा होगा अगर अगरचे आज भी करते हैं मगर वो अंदाज खास होगा हर बंदा देखने वाला हर शख्स ही तारीफ कर रहा होगा कि ये हैं वो अल्लाह के खलीफा इतलाक जिनको अल्लाह ने कायनात की सिरदारियों के ताज पहनाए हैं अब मकाम महमूद पर रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाह वसलम खड़े हैं और शफात का दरवाजा खोल देंगे फिर क्या होगा तहिलुशफा वो ही हदीस जाबिर जो रसूल अक्रम का फरमान बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है शफात जब खुल जाएगी यशपाउन और बंदे भी शफात करेंगे अब वो आयत सामने रखो जो हमने वारदात की इंकशाफ के लिए शुरू में पढ़ी है या बुदून अमिन दून माला युदुर्रहम वला यनफाहम व यकूलून हा उला शफाउना इंदल्ला यहां पर पहले जिक्र आ रहा है मुशरकों का और आयत के हर लफ्ज में उन्हीं का जिक्र है कि वो इबादत करते हैं उन लोगों की अल्लाह के सिवा जो कोई फायदा भी नहीं दे सकते और कोई नुकसान भी नहीं दे सकते और ये मुशरक उनको कहते हैं कि ये हमारे अल्लाह के यहां सिफारशी बन जाएंगे ये आयत और अब इसके सामने वो आयात और वो मफहूम तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला ने बयान किया है और मकाम महमूद वाली आयत और फिर यशफून के अल्फाज ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे इधर क्या है एक शफी नहीं कई शफा हैं रसूल अक्रम सल्ला वसलम भी हैं आपके सिहाबा भी हैं सत्तर हजार का कोटा तो सिर्फ उस्मान गनी रजी अल्लाह तला का है हर हर सिहाबी के अलादा कोटे हदीस में मौजूद हैं फिर सिद्दीक है शहीद है और या है सोफा सूफिया है और सुहाद है यहां तक कि असिकुल मुराग मुरब्बा हूं सरकार फरमाते हैं ना तमाम बच्चा भी रब से झगड़ा करेगा कि मैं भी अपनी अम्मी को जन्नत में लेके जाऊंगा इस हद तक शफात आम हो जाएगी अब कुरान भी सही है और ये फरमान भी सही है हक आयात सही है तो मतलब क्या है उधर बात मुशरकिन की है और इधर बात मोमिन की है वो मुशरक है जिनको मकाम महमूद का साया नहीं मिलेगा ये मोमिन है जिनको मकाम महमूद का साया मिल जाएगा वो पुत्रों की प्रस्तश करते हैं और ये मोमिन अल्लाह के सिवा किसी की प्रस्त नहीं करते वो पुत्रों को अपना शुफा कह रहे थे अल्लाह ने मुस्ताद कर दिया ये महबूब सलाम को अपना हामी कह रहे हैं अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया हा उलाई शुफा उना इंदल्ला हा उला इसमें इशारा है ये ये हमारे शुफा हैं ये हमारे शुफा हैं वो बुतों के झूठे पुजारी बुतों के आबिद बुतों के बारे में कह रहे हैं ये हमारे पुजारी हैं कितनी दोरी वारदात की जा रही है इस मकाम पर किसी के ये कहा जाए ये चूड़ा तेरा मामू है उसके लिए ये भी बड़ा गुस्से का मामला है मामू उसका अगर से आम सा इंसान हो लेकिन किसी चूड़े की तरफ उसको मनसूब कर दिया जाए कि वो फुला चूड़ा तेरा मामू है वो कहेगा तुमने तो मेरी गैरत पर हमला किया चूड़े को मेरा मामू बना दिया इन जोलमू जालिमों का जुल्म देखो लाखों मनात को हमारा शफी कहते हैं हाउलाए की जगह हाउलाए की जगह वो है और ये हाउलाए दाता साहब पे बोल रहे हैं हाउलाए के इशारे ये हजरत खाजा साहब पर कर रहे हैं हाउलाए के इशारे सैदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तहो की तरफ कर रहे हैं और हाउलाए का इशारा कायनात के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम की तरफ कर रहे हैं इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है इससे बड़ा दिलों के लिए तंगी का सामान क्या हो सकता है और इससे बड़ा जिगर के लिए तीर क्या हो सकता है जब तुम जो मामू ना हो और चूड़े को किसी का मामू करार दे दिया जाए उस पर गुस्सा आता है और जब बुतों को हमारा शफी करार दिया जाए तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा हम कहते हैं ओला हाँ, है ये नहीं है जो तुमने बना रखे हैं वो औरों के हैं वो बुत परस्तों के हैं हम जिनको मानते हैं वो दाता गंज बख्श अजमेरी है वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है वो अल्लाह के बली है हम एक लम्हा भी उनकी इबादत रवा नहीं समझते अल्लाह के सिवा हर वक्त किसी की इबादत उसके सिवा हराम है कुफ है हम इनको मानते इसलिए हैं कि ये अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं उसकी इबादत करते हैं अपनी नहीं करवाते अल्लाह की करते हैं अल्लाह ने इबादत की वजह से इनको मकाम दे दिया है जो ये बोलते हैं अल्लाह पूरी फरमा देता है या बदून अमिन दून पहला लफ्जी वाजे कर रहा है कि बलियों को बुतों के साथ ना मिलाओ इस वास्ते कि बलियों के दीवाने बलियों की इबादत नहीं करते कोई बली माबूद नहीं है कितना ही बड़ा गौस क्यों ना हो कितना ही बड़ा कुतुब क्यों ना हो कितना ही बड़ा बली क्यों ना हो साले क्यों ना हो सूफी को ना क्यों ना हो वो हर किस बाबूद नहीं है एक फीसद भी उसकी इबादत जायज नहीं है वो खुद अल्लाह की इबादत करने वाला है हमने उनको इसलिए मान रखा है कि वो अल्लाह की इबादत करके कुर्ब में पहुंच चुके हैं भला बुत कुर्ब में पहुंच कैसे सकता है उन लोगों को अकल का इलाज करवाना चाहिए बुत तो मरदूद है बहुत अल्लाह का गजब शुदा है खुद बहुत अल्लाह का धुतकारा हुआ है वो तो कुर्ब में हो ही नहीं सकता हम उनकी सिफात मांगते हैं जिनको अल्लाह ने कुर्ब अपना अता फरमा रखा है हा उला शुफा उला इंदल्ला वो बुद्ध और वो काफिर इधर मोमिन और इनके वली मोमिन और इनके नबी मोमिन और इनके सिद्दीक और शहीद हल के कायनात जल्ला हु ने बिल्कुल वाजे अंदाज में दोनों को अलहदा अलहदा बयान कर दिया अब ये ज्यादती है इस जमाने की सबसे बड़ी कि इतना बड़ा हमला हो जाता है फिर भी लोग कहते हैं कि उन्होंने तो कोई फिरका वारियत की ही नहीं वो किसी को कुछ कहते ही नहीं है इससे बड़ा और क्या कहना होगा जब एक चूड़े को तुम अपना मामू नहीं मानते तो जब एक बुद्ध को तुम्हारा शफी बनाया जा रहा हो इससे बड़ा अमला क्या हो सकता है हम वाजे करते हैं कोई बुद्ध हमारा शफी नहीं है हम लालत भेजते हैं बुद्धों पर और हम नारे लगाते हैं अल्लाह के बंदों के जो खल के कायनात जल्ला जलालू की इबादत करने वाले हैं और एक लम्हा भी उनकी इबादत हराम और शिरक और कुफर है वो अपनी इबादत नहीं करवाते और ना ही हम उनकी करते हैं वो अल्लाह के कुर्ब में यूं पहुंचने वाले हैं मेरे महबूब सलाम फरमाते हैं यश पऊन सारे ही वली शफात कर रहे होंगे और अल्लाह उनको अपने अपने हिस्से का कोटा अता फरमा देगा अब आगे हदीस शफात किस अंदाज में हजरत जाबिर उसी इज्तमा में चूंकि अभी वो माफल तो जारी है हजरत यजीद ने सवाल किया था अभी जवाब मिला है अभी उन्होंने तबसरा करना है कि अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूं हजरत यजीद कहते हैं हजरत जाबिर ने मुझे जवाब दे दिया मगर इस तरह के जू लगता था कब इल्म के किसी समुंदर का कोई किनारा टूट गया है मुसलसल बोल रहे रहे थे और इतने दलाल दे रहे थे कि अखाफ अल्लाह फजा मुझे खतरा हुआ कि अब ये सब कुछ तो मैं याद ही नहीं रख सकूंगा ये जितने दलाल बयान कर रहे हैं और जितनी ये तकरीर कर रहे हैं कहने लगे मुझे इतना उसमें से जरूर जरूर याद है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला कहते हैं कि जिस वक्त मोमिनीन जो भी जहन्नम में थे उनको जहन्नम से निकाल के बहर किया जाएगा तो उनकी सूरत क्या होगी फरमाने लगे हमारे महबूब सलाम ने फरमाया है कई दान समासिन उनकी सूरत हाल यह होगी कि जिस तरह के तिल की लकड़ी होती है तिल की लकड़ी उसका पौधा छोटा सा होता है और लकड़ी बारीक सी होती है वो कुशैतीर उसकी लकड़ी के नहीं होते तिल की लकड़ी ईदान समासिम बिल्कुल ये बंदा जहन्नम में जल जल के जल जल के तिनका बन चुका है और अब इसको निकाला गया है फिर वह इसको जन्नत की नहर में घुसल दिया जाएगा न कल करातीस जब निकलेंगे तो सफेद चांदी की तरह चमक रहे होंगे रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाह वसलम ने वाजे कर दिया वो और पार्टी है कि जिनका कोई शफी नहीं वरना मेरी पार्टी जो है जो मेरे हैं मैं तो हूं ही मैंने औरों को भी अपने गुलामों को भी शबी बना दिया है निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे वो बुत परस्त और बुतों के पुजारी उनके मामले जुदा है अब देखो आयत के अंदर भी अल्लाह ने वाजे फरमा दिया जिसमें यह फरमाया था कि इन कमन तुद खिली नारा फकत अखजईता क्या अल्लाह जिसको तूने जहन्नम में दाखिल किया उसको तूने रुसवा कर दिया आगे क्या लफ्ज है वमालिमीन अमिन सबके नजदीक यहां जालिमीन का माना है काफिरीन कि काफिरीन का कोई मददगार नहीं है मालिस जालिमीन अमिन अंसार मालिस जालिमीन अमिन अंसार एक जगह नहीं दर्जनों मकाम पुराने मजीद में ऐसे हैं जहां मोयन करके काफिरों को कहा गया इनका कोई वाली नहीं इनका कोई वली नहीं इनका कोई माला नहीं इनका कोई मददगार नहीं कितना शौक है उन लोगों को अपने मददगार की जो अल्लाह से इजन से मददगार बनेगा उसकी नफी करके खुद अपने आप को उस कुफर वाले तबके की तरफ ले जा रहे हैं इस वास्ते के कुरान तो यह कह रहा है मोमिन के मददगार की नफी कहीं भी नहीं की बल्कि वज अल्लाह मिल्लदुन का वलीजा वज अल्लाह मिल्लदुन का नसीरा मोमिनों की तो ये शान बयान की है कि फरमा मेरे मोमिन का वली भी होता है उसका मददगार भी होता है नसीर भी होता है वली भी होता है और इधर माल जालिमीन अमिन अंसार फरमा हमने जिनको जहन्नम में दायमी दाखिल कर दिया ये काफिर हैं और ये ठीक है इनका कोई मददगार नहीं लेकिन जिनके दिल में ईमान है हजरत जाबिर ने उसी तकरीर में कहा याजिन हब्बा तशीरा जो जितना भी जो जितना भी जिसके दिल में खैर है जिसने कलमा पड़ा है उसको भी जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा दी जाएगी अब इस गुफ्तगु से कोई यह भी असर ना ले कि जब शफात है तो फिर हमें नमाजों की जरूरत क्या है रोजे की जरूरत क्या है बड़े वादे फर्क है ये नमाजें रोजे इसलिए जरूरी है कि अगर ये होंगे तो फिर जहन्नम में जाने नहीं पड़ेगा बरह रास्त जन्नत मिल जाएगी और अगर ये नहीं है कमी है तो फिर दो जान भी हैं या तो अल्लाह माफ करेगा बरह रास्त और नबी सलाम की सिफारिश आप सरकार फरमा देंगे या अल्लाह माफ नहीं करेगा सरकार सिफारिश नहीं फरमाएंगे तो फिर बंदा जहन्नम में चला जाएगा लेकिन जहन्नम में जाकर यकीनन शफात मिलेगी कोई मोमिन जहन्नम ऐसा नहीं है जिसको सरकार की शफात नहीं मिलेगी हर मोमिन जो जहन्नम में पहुंच गया उसको जरूर शफात मिलेगी लेकिन अमल इसलिए जरूरी है क्या शौक है उतनी देर जहन्नम में जलने का आज अमल करना चाहिए ताकि वहां जाना ही ना पड़े और अल्लाह ताला बरह रास्त जन्नत अता फरमा दे इस वास्ते शफात को मानना भी लाजिम है फर्ज है पर हक है और ये मोमिन के लिए हर हाल में उसको मिलेगी जो जहन्नम में पहुंच चुका है उसको पहले मिलना ये एहतमाल है दरियाए रहमत जोश में आता है या नहीं आता हो सकता है जहन्नम में ना भेजा जाए गुनाहगार को वैसे जन्नत दे दी जाए गुना माफ करके लेकिन जो अमूमी कानून होगा जहन्नम में गिरेगा उसको सजा मिलेगी अब सरकार की शफात होगी और उसको निकाला जाएगा यह भी तो बड़ा ही कमाल है ना क्योंकि जहन्नम में दायमी रहना और कुछ वक्त के लिए रहना और फिर जन्नत का वारिस बन जाना इन दो बातों में बड़ा फर्क है शफात का बहुत बड़ा किरदार है लेकिन साथ हमें यह पैगाम मिल रहा है कि कोई माज इसी पर अमल ना छोड़ दे अमल हर हाल में लाजिम है ताकि महबूब सलाम अमल की बुलंदियों की वजह से हो सकता है वो जन्नत अता फरमा दें जहां रोजाना आपका दीदार भी होता रहे बहुत अशम शामिल हजरात आप देखो इस मकाम पर जिस वक्त ये हदीस मुस्लिम में है और आयात पड़ी गई सामने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तला ने तकरीर फरमा दी आयात से मरूब नहीं हुए जब वो आयत पढ़ रहा है आज सादा मुसलमान तो फौरन कहता है उसने तर्जमा वो आयत पढ़ रहा था कुरान पेश कर रहा था अगर सच्चा नहीं तो वो फिर कैसे हो सकता है वो कोई कहानी नहीं सुना रहा था कुरान सुना रहा था तो हजरत जाबिर के सामने भी किसी ने कोई नावल नहीं पढ़ा कोई शेर पेश नहीं किया आयात ही पढ़ी है मगर आयात पढ़ के क्या सच्चा था नहीं झूठा था और हजरत जाबिर ने झूठ यूं साबित किया कि हजरत यजीद अल फकीर कहते हैं मेरी जितनी जमात थी सिवाय एक बंदे की हमने सब ने तौबा कर ली कहने लगे मैंने कहा वही हकुम हाजा शेख को यकजिब वाला रसूल सल्लाम हजरत यजीद आप वहां से नूर पाके अपनी पार्टी को खिताब कैसे करते हैं फरमाने लगे तबाह बर्बाद हो जाओ क्या ऐसा बंदा नबी इस्लाम के बारे में झूठ बोल सकता है जो जाबिर बिन अब्दुल्ला बैठ के हदीस पढ़ा रहे तो क्या ये झूठ बोल सकते हैं नहीं नहीं ये सच बोल रहे हैं और जो मतलब आयात का इन्होंने बताया है वही मतलब है हम खारजियत से तबाह करते हैं और फिर वही आल सुन्नत के मसलक पर आते हैं इसी मसल के इस्लाम के अंदर मजहब इस्लाम में मसल के आल सुन्नत पर आ जाते हैं ये हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तु का जोर इस्तलाल था और यह कुरान दानी थी और यह फाम कुरान था कि वो जो लोग अपने कई मुबलिक भी बने हुए थे मुफसर भी बने हुए थे और जिनका अजम था कि हम पूरी दुनिया को कुरान पढ़ पढ़ के राह रात पे लाएंगे लेकिन खुद भटके हुए थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की तजल्ली पड़ी है उन भटके हुए लोगों को जो सकाल टाइप के थे और रामा थे उनको एक आयत पढ़ के मकाम महमूद वाली राह रास दिखा दिया है ये उनकी खुशकिस्मती थी सुना उन्होंने मान लिया आज के लोग पता नहीं जिद्दी क्यों हैं अब कितनी वाजे बात है और ये जो कुछ मैं पेश कर रहा हूं मैं सौ फीसद से जायद यकीन पर पेश कर रहा हूं और मिस मेरे पास सैकड़ों दलाल है कुरान सुन्नत इसमें और जहां भी कोई कहेगा मैं ये फर्क बयान करूंगा और ये मानना पड़ेगा सबको इसके सामने कोई दलील नहीं पेश कर सकेगा दिल से ना माने तो उसका अपना मामला है वरना पुराने मजीद ने खोल के बयान कर दिया हा उला शुफा उला इंदल्ला ये जुमला काफिलों का है और ये शफा बुत है जिनको रद्द किया जा रहा है और दूसरी आयात वाजे कर रही है कि मोमिन जो है उनको अल्लाह अच्छे दोस्तों से भी मदद अदा फरमाएगा आप बार बार पढ़ने वाले की कोई फायदा नहीं दे सकता कोई फायदा नहीं दे सकता मैं कहता हूं उस कबीले का कोई होगा कोई फायदा नहीं दे सकता और जो मकाम महमूद पे खड़े होकर करोड़ों को जन्नत दे रहे हो क्या उनके फायदे का भी इनकार कर दिया जाए वो भी फायदा नहीं दे सकते नहीं नहीं इनके फायदे ही फायदे हैं इतने फायदे हैं कि जिसको एक निगाह से देखते हैं उसको भी जन्नती बना देते हैं ला तुमसन्नार मर्रानी फरमाया जिसने मुझे देख लिया हालत ईमान में जन्न में नहीं जा सकेगा और जिसने मेरे देखने वाले को देख लिया वो भी नहीं जा सकेगा जिनका इतना फायदा हो कि जो कच्चे बच्चे और ना तमाम बच्चे को ये हैसियत दे रहे हो कि वो अपनी बालदा को पकड़ के जन्नत में ले जा रहा हो उनके अपने फायदों का आलम क्या होगा लोगों की अकल की वो सुई फिर गई उन तबके की कि बार बार इतना हसद भुगल है पैगंबर इस्लाम के साथ और अलिया कराम के साथ कि जो आयात वाजे तौर पर माकबल बयान कर रहा है श्याबा बयान कर रहे हैं कि ये है मुशरकिन के बारे में और ये है बुतों के बारे में उनका शौक है हर दरस में हर दीन के कोर्स में हर तालीम और तजकिया में कि हमने यही साबित करना है कि महाजल्ला यही सबसे बड़े बुत हैं जो अल्लाह के बली हैं और ये जो कब्रों वाले हैं महाजल्ला ये सबसे बड़े मुजरिम हैं और इनको मानने वाले ये सबसे बड़े मुशरक हैं महाजल्ला कुरान वाजे कर रहा है कि खाल के कायनात जल्ला जलालू ने दो जुदा जुदा पार्टियां बनाई हैं ये आयात उनके बारे में है और जो हमारी हैसियत है इसको मकाम महमूद ने नबी सलाम ने बयान कर दिया है कि आपके खुदाम भी जन्मियों को उठाएंगे जन्नत अता फरमाएंगे अब मकाम महमूद का मंजर जरा आलम तस्वुर में देखो कितना हसी मंजर होगा सारी मखलूकत हशर के मैदान में इकट्ठी हैं और मेरे महबूब सलाम अर्श पे जलवागर हैं क्या सूरत हाल होगी क्या अंदाज होगा बरेली के इमाम इमाम इल्मिकमत हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजल बरेलवी रहमतुल्ला ने निगाह इश्क से वो मंजर देखा अब ये तस्वुर सामने करो कि सरकार अर्श पर है सारी मखलूकात की निगाहें उठी हुई हैं और किस अंदाज में हुसन की जलवा बारियां हैं अल्लाह के कुर्ब खास में तशरीफ फरमा है तो बरेली के ताजदार उस माहौल को सामने रखकर कहने लगे क्या ही जौक अफजा शफात है तुम्हारी वाहवा कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाहवा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तुम्हारी शपात है और कितना ही इसका खूबसूरत अंदाज है क्या ही जौक अफजा शपात है तुम्हारी वाहवा कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह वाह खामए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह क्या ही सूरत अपने प्यारे की सवारी वाह वाह मकाम महमूद पर जलवा कर है और इधर से देखकर ये पढ़ा जा रहा है खामाए कुदरत का उसने दस्तकारी वाह वाह क्या ही सूरत अपने प्यारे की सवारी वाह वाह सदके इस इनाम के कुर्बान इस इकराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह सिर्फ दुनिया में ही नहीं वो अकबा में भी जब बड़े बड़े ताज भर गिर गए हैं किसी का कोई मनसब बाकी नहीं रहा वो जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर थे वो मोम जामे बन चुके हैं उनकी नहीं रही और पसीने में डूब चुके हैं आल हजरत कहते हैं इसको कहते हैं इकराम और इसको कहते हैं इनाम और इसको कहते हैं सरबरी और इसको कहते हैं ताजवरी और इसको कहते हैं सरदारी और इसको कहते हैं किस्वर का ताजवर होना कि हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह दुनिया में थे फिर भी वाह वाह के डंके बज रहे थे आज अशर में देखा है वही डंके ज्यादा बज रहे हैं अब देखो ये आज अकीदा होगा तो कल ये मंजर सामने होगा और फिर सफारिश का हिस्सा मिल रहा होगा महबूब सलात वसलाम की सफारश जन्नत में होने के बावजूद भी चाहिए फिर भी तो शफात चाहिए कि इसको छोटी जन्नत ना दो इसको बड़ी दो इसको निचला कमरा ना दो इसको ऊपर वाला दो इसको आम जगह ना रखो इसको वहां रखो जहां मुझे देखता रहे तो फिर भी तो जरूरत है तो मेरे महबूब सलाम के दरवाजे इस अंदाज में खुले हैं ये है वो शफात जिसका कुरान ऐलान करता है और पहली किस्तों के अंदर तफसीलन उसका जिक्र आ भी चुका है और वो और महरूम लोग हैं कि जिनको बुत मिले या बुतों के तस्करे मिले वो उस अंदाज में उनके पीछे लगे हुए हैं आहले हक को खाल के कायनात दिल्ला जलालू ने वो सिरात मुस्तकीम अता फरमाया है जिस पर चलते हुए आज भी दिल को हशर की वो रौनक महसूस हो रही है मोहतशम सामिन हजरात ये एक सिर्फ आयत के लिहाज से जिसके जिमन में दो आयात पड़ी और आगे मकाम महमूद वाली आयत और हदीस मुस्लिम बुखारी से मैंने उस पस मंजर को वाजे करने की कोशिश की जो सुप्पा वालों को आता था जो मस्जिद नबी शरीफ में पढ़ाया गया जो खाके हिजाज का पैगाम है आज का कोई छोटा मोटा तन तर्जमे के अल्फाज पढ़ने वाला इंसान अपनी तरफ से कोई अलहदा पगडंडी बनाता है तो वो उसकी अपनी शून्य किस्मत है वरना इस्लाम इस अंदाज में रोशन और वाजे है कि रसूल अक्रम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें ऐसी मिलत पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रात भी यूं चमकती है जिस तरह दिन का वक्त चमक रहा होता है मोहतशम सामिन हजरात इन तबारक बताला कल सुबह में दीन कोर्स में हमारा नहायत अहम मौजू है मुहासबा कादियानियत ये भी एक नासूर है उम्मत मुसलिमा के लिए कादियानियत का और इसके बारे में जानना भी बड़ा जरूरी है तो कल सुबह फाम दीन कोर्स में यह मौजू होगा और आप बहुत से लोग इसमें शिरकत करते हैं लेकिन अभी मजीद कोशिश की जरूरत है बिलखसूस खवतिन इस्लाम जो सुन रही हैं वो मजीद आगे पैगाम या आगे पहुंचाएं और खुद भी बापरदा इस प्रोग्राम में शिरकत करें अल्लाह तबारक वाली हमारी इस गुफ्तगु को कबूल फरमाए इन शाह तबारक आइंदा जुमतुल मुबारक बड़ा अहम मौजू है गजबा बदर और आइन जवामर्दी वक्त पर तशरीफ लाएं वाखिर दावाना अनिल रब